ईश्वर मैं इन दोषों का मालिक स्वामी ये स्वस्वामी संबंध तो मैं जोड़ूंगा नहीं किसी मूल्य पर भी ईश्वर का सब कुछ है और जो कुछ हो रहा है उसके लिए कोई उखड़ने की बात नहीं है कोई घबराने की बात नहीं है कोई डरने की बात नहीं है इसलिए मैं और मेरा ये नहीं जुड़ने देना मैं नहीं तो आप जुड़ जाएगा आप जुड़ने का अवसर है ये तो आज तो आप इतना मोह नहीं रखते होंगे इतना मैं और मेरा नहीं दिखता होगा और किसी माता किसी की माता किसी का पिता आके यहाँ रोने लग जाए धोने लग जाए और ये कहे वो कहे मुझे रोटी खाने को नहीं मिलती कपड़ा उड़ने के लिए नहीं मिलता और ये हो गया वो हो गया पड़ोसी मुझे धमकाते रहते हैं और ऊपर से छट्टा पकड़ी है और ऊपर से सोने के लिए वहाँ मच्छर काट रहे हैं और वो ब्रह्मचारी कहता था ना मेरा परिवार से कोई संबंध नहीं है अब मैं परिवार से दूर हो गया हूँ अब परिवार के साथ सारा संसार मेरा परिवार वो झट अपना कमंडलू बस्तर उठा के वो माता जी पिताजी के साथ हो लेता निहार समझ में आ गया है जी नहीं आया आप ऐसा तो नहीं करोगे क्या कर दोगे हैं पहले सज्जा तैयारी नहीं की तो कर देंगे आप एक विद्यार्थी युवक थे वो डॉक्टर वाली उपाधि श्रेणी में पढ़ते थे आज तो बड़ा उद्वेग भावुकता भरी हुई और कहने लगे मैं विद्या पढ़ूंगा योगी योगियों के इतने लाभ समाधि के इतना आनंद बताया गया मैं वो बनूंगा और गुरुकुल में पढ़ूंगा और प्रतिज्ञा करते समय खून निकाल के अस्ताकर करते थे ऐसे खून निकालना ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं समझे घटना हुई पिताजी बीमार हुए या मृत्यु हुई जैसे होती है और उसका पता नहीं चला वो कहाँ गए आगे चलते चलते जो गीता फैलती है ना ऐसी फैली हुई थी जब दिल्ली में मिले थे वो वही व्यक्ति वही डॉक्टर जो ये कहते थे खून से हस्ताक्षर करते थे और आज वो उसके कारण वो चौपट हो गए आप भी याद रखना यदि इतनी सज्जा तैयारी आप तप नहीं करेंगे तो यही स्थिति आपकी होगी इसमें कोई अंतर नहीं है कोई विकल्प नहीं है आप इसको हटा नहीं सकते अब समय है जो करना हो सो कर लो जो व्यक्ति ये देखता है पता नहीं ये जीवन एक घंटे के पीछे रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं कल हम जगेंगे या नहीं जगेंगे या भूकंप आके नीचे दब जाएंगे या और कोई बात हो जाएगी जो व्यक्ति यही देखता रहता है वो व्यक्ति पूरा बल लगाता है पूरा जोर लगाता है संसार के भोग विलास में उसकी रुचि नहीं होती होती ही नहीं सब कुछ को अनित्य देखता है जो बनी हुई चीजें अनित्य को अनित्य देखता रहता है नित्य को नित्य देखेगा अशुद्ध को अशुद्ध देखता रहता है असुचि को असुचि दुख को दुख देखता रहता है सुख को सुख देखता रहता है अनात्मा को अनात्मा ये जो चार क्षेत्र विद्या विद्या के इसको देखता रहता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की सोचता है और उसका दिमाग बुद्धि कैसी रहती है मैं अपने लक्ष्य पर जाना चाहता हूँ और पूरा लक्ष्य पर जाना ही है और दूसरा उसका जो पक्ष भाग और आवश्यक है संसार को भी उसी लक्ष्य पर पहुंचाना वो व्यक्ति इसमें सफल होता है मैं भी वहीं जाऊंगा और संसार को भी वहीं पहुंचाऊंगा दोनों को साथ लेता है अकेले को लेगा तो मार खा जाएगा मैं वहां जाऊंगा और औरों का कुछ नहीं देना देना औरों का देखना ही और कहा जाएंगे क्या करेंगे ऐसा व्यक्ति कभी कृतकृत्यता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है आप देखेंगे कि अपने जीवन में जितनी अपनी उन्नति की आपकी भावना है उतनी दूसरे की नहीं होगी है तो बताओ और इस क्षेत्र में अपनी उन्नति से भी अधिक व्यक्ति दूसरे की उन्नति के विषय में सोचता रहता है अपनी हानि उठा के भी दूसरे के भला की बात सोचता है तब तो ये स्तर बनता है और किसी का बराबर ही नहीं बनता जितनी अपनी चाहता हो उतनी दूसरे की चाहता हो अजा अच्छा, आपका मैं परीक्षण करूं आप जितनी अपनी चाहते उतनी औरों की चाहते हैं या नहीं चाहते हाथ खड़ा करो जो चाहते हो जो चाहते हो हाथ खड़ा करेंगे अच्छा नहीं चाहते हो हाथ खड़ा करो उतनी नहीं चाहते है जी तो विफल हो या नहीं आप आपने ये स्तर भी प्राप्त नहीं किया जितनी अपनी चाहते उतनी दूसरे की चाहे आप आगे नहीं बढ़ सकते अर्थात संसार में विद्वान बन सकते हैं शब्दार्थ संबंध वाले उपदेशक बन सकते हैं अध्यापक लेखक धन भी मिलेगा मान भी मिलेगा पर मोक्ष जैसी चीज इस साक्षात्कार जैसी चीज उसकी चर्चा है यहाँ पर ऐसे नहीं बन सकते इतने स्तर पर पहले बराबर पर पहुंचो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति और फिर आगे बढ़ो कि भले ही अपनी हानि हो जाए पर दूसरे की उन्नति हमने करनी ही है इतना स्तर व्यक्ति का आगे उसको बढ़ाना ही पड़ता है तब अपने लिए और समाज के लिए वो इन दोनों बातों को पूरा कर सकता है अब आपके दिमाग में एक बात रहती होगी अपने लिए करो अपने लिए ये करो वो करो अपने लिए बहुत कुछ परिवार के लिए बहुत कुछ एक ब्रह्मचारी थे वह आबू पर पथ घूम रहे थे एक चर्चा चल पड़ी चर्चा चल पड़ी कहने लगे कि इतना विशाल अरबों खरबों की संपत्ति आश्चर्यजनक इतना जन समुदाय जिस एक भवन में बीस हजार पच्चीस हजार व्यक्ति बैठे इतना बड़ा भवन लंबा चौदह को सारा वर्णन में नहीं करा कैसी कल्पना थी तो उसने एक बात कही कि ऐसा क्यों हुआ है अपने यहां वैदिक परंपरा में क्यों नहीं होता ये जब ये बात आई तो उन्हें झट एक बात कही हमारे वैदिक परंपरा में क्यों नहीं होता उन्होंने कहा कि हमारा परिवार पहले है समाज पीछे है इनका परिवार समाज पहले है परिवार पीछे है नहीं आज उन्होंने हम्म? फिर दोहराऊ ये कहते हैं हमारा जो धर्म है वो पहले है और परिवार पीछे है और हमारा परिवार पहले और धर्म <laughs> पीछे है अपने बेटा बेटी के लिए वो एक एक के लिए पांच लाख दस लाख खर्च करता है गृहस्थी लोग भी सुन लो अच्छी तरह से एक एक बेटे के ऊपर दस हजार आठ हजार छह हजार खर्च करता है और कोई विद्वान बनाना पड़े राष्ट्र के लिए उसके लिए एक हजार रुपया नहीं देगा दस पंद्रह वर्ष में भी अब बताइए वो कहता इसीलिए हुआ आ गया समझ में मार खाएगा भारत का व्यक्ति और वैदिक धर्मी मार खाएगा ही और ये उल्टी परंपरा चलेंगी ही चाहे राजनीति का भाग हो और चाहे संप्रदाय का भाग हो संप्रदाय वाले लोग बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है उनका तन मन धन जिसको वो अपना धर्म मानते उस पर अर्पित कर देते हैं और वैदिक परंपरा वाले अपने परिवार के लिए अर्पित करते थे समाज के लिए अर्पित नहीं करते समाज के लिए तो कोई बात ही नहीं उठाते उठाते हैं तो कोई गौण रूप से उठा दी भाई हो गया तो थोड़ा सा कर दिया इसलिए ऐसे विद्वान तैयार नहीं होते ऐसे धार्मिक लोग नहीं बनते ऐसे बेटा बेटी पैदा नहीं होते भला चौदह हजार पर माँ कुमारों पर माकवारी बन सकते हैं अबू पर्वत पर तो हमारे क्यों नहीं बन सकते यहाँ तो यहाँ लाखों बन सकते थे इतनी जनसंख्या है कहा बनते हैं तो इसलिए ये जो दिमाग व्यक्ति का बना हुआ रहता है कि मैं अपना भला कर लूं आगे बढ़ा तो थोड़ा परिवार का कर लूं समाज की बात तो आती ही नहीं फिर आती है तो आती है तो क्या हुआ पांच प्रतिशत आ गई कभी ऐसे नहीं कम से कम व्यक्ति को जैसा परिवार का पालन पोषण करता है ये साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूं परिवार का अपने बेटे पोतों का पालन करता है ऐसा ही चार बेटे बेटी हो तो पांच माह का एक बेटा समाज होगा राष्ट्र होगा ऐसा मान के चलना चाहिए तब कार्य हो सकता ये सामाजिक स्तर पर सभी लोगों के ऊपर इसलिए ऋषि ने लिखा सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझो अब विराम सम्मान्य विद्वतगण धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं मानव जीवन के संबंध में सभी क्षेत्रों में कैसे जानना मानना चाहिए कैसे प्रयोग व्यवहार करना चाहिए ये व्यक्ति को सब जानना पड़ता है यदि इतना निपुण व्यक्ति नहीं है तो निश्चित बात है कि मोक्ष पद ईश्वर की प्राप्ति वो न कर सकता न करवा सकता आप देखेंगे कि व्यवहार के क्षेत्र में अनेक बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें व्यक्ति स्वयं को ठीक रख नहीं पाता संभल नहीं पाता जब कोई किसी के साथ अनुचित व्यवहार करता है बार बार करता तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है वह भी उसके साथ विपरीत व्यवहार करना आरंभ कर देता है ऐसी घटना व्यापक हजारों लाखों होती है कभी सुना होगा ये बात कही जाती है और किसी अंश में वो बात व्यवहार में भी आती है कितने लोगों के साथ जब अन्याय होता रहता है तो वो लोग अन्यायकारी बन जाते हैं कुछ लोग तो व्यक्ति स्वयं को ऐसी घटनाओं के होने पर कैसे संभालता है कैसे सुरक्षित रखता है और दूसरी घटना ले लो अब कल्पना कीजिए दूसरी बात एक भेड़िया या कुत्ता या और भयंकर रीछ एकदम आक्रमण करता है और वो मारने की स्थिति में आता है अब यहां पर संतुलन रखना क्या करना दो स्थितियां भिन्न भिन्न होती है एक स्थिति होती है क्रोध मात्र से मारना न्याय अन्याय को न देख करके मार डालना या मारने की आवश्यकता नहीं है उसको मार देना एक स्थिति होती है उस आक्रमणकारी को रोकना और न रोकने पर उसको मार भी देना प्रक्रोधित होकर मारना अन्याय से मारने की बात मन में नहीं है अन्यायकारी को रोकना अन्यायकारी को दंड दे देना इसमें व्यक्ति का कोई दोष नहीं है और तुलना करो जो दुष्ट कर्म करता है डाके मारता आचारहीनता करता ईश्वर उसको गधा घोड़ा सूर बहुत भयंकर योनियों में भेजता और दंड देता है उचित दंड देने में यदि दोष होता तो ईश्वर इनको सूर गधा घोड़ा नहीं बनाता जो भयंकर दुख है ये तो साधारण दुख है जेल में डाल दिया ये कर दिया आज जीवन भर सुअर जैसी और इतना भयंकर दुख है कितना कष्ट है उसकी कल्पना करके देखो एक कबूतर है तार पर बैठा रहता रात भर रात्रि ऐसे ही कटती है उसकी चाहे वो पांच वर्ष का हो गया हो दस वर्ष का हो गया रात्रि में तार पर ही बैठेगा बेचारा और कितनी नींद आएगी उसको नीचे आए तो बिल्ली खाएगी उसको और कुत्ता खा जाएगा तो इससे हमें पता चला अन्याय को रोकना अन्यायकारी को रोकना अन्यायकारी को उचित दंड देना पाप नहीं है धर्म है सीधी बात उसमें अन्याय की प्रवृत्ति मानसिक क्रोध अनुचित ये दोष कहलाता है ईश्वर क्रोधित होकर के अन्याय से अनुचित किसी को दंड नहीं देता आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं आक्रमणकारी और ये जितनी प्रवृत्तियां व्यवहार में ये जो प्राणी मरते हैं खेती करने में तालाब कहते ये बहुत बड़ा पाप है कोई मत मारो प्राणी को तालाब मत खोदो कुआ न खोदो हल मत चलाओ क्योंकि वहां पाप होता है मुंह पर पट्टी बांध रखिए ये इनका धर्म है अन्याय हो रहा है लाखों लोग मारे जा रहे हैं और ये कहते मुंह पर पट्टी बांधो और ये हम किसी को रोकेंगे नहीं किसी अन्यायकारी को न रोकना जबकि बल है रोकने का वो अन्यायकारी को न रोकना भी अन्यायकारी की सहायता देना अन्यायकारी को रोक देना है मार देना वो अहिंसा है हिंसा को हिंसाकारी को मार देना रोक देना भी अहिंसा है पर कभी कभी क्षत्रिय का धर्म थोड़ा सा अटके होता है ब्राह्मण का सन्यासी का थोड़ा थोड़ा अंतर इनमें अंतर जरूर करना पड़ता है उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति ने बीस बातें कही अन्याय की बातें कही मिथ्या आरोप लगाए ब्राह्मण का काम है उसको सह जाएगा वो सहना चाहिए और किसी क्षत्रिय को कहे अन्यायकारी बीस गालियां दे उसको और क्षत्रिय बलवान है तो उसको मार देगा तो कोई पाप नहीं लगता <laughs> वो श्री कृष्ण जी को गाली किसने दी थी कितनी दे दी सौ दी थी या कितनी ऊपर हो गई थी एक सौ एक <laughs> तो ठिकाने लगा दिया उनको राजनीति वालों की बात देखी होगी महाभारत का युद्ध है उसमें ऐसी ऐसी घटना आती है है जी वो आती है कि द्रोणाचार्य जी भयंकर युद्ध घमासान युद्ध करते हुए सेना को मारते काटते सफाई करते जा रहे थे और लोगों ने कहा ये तो किसी को नहीं छोड़ेगा बड़ा भयंकर है ये तो तो एक योजना बनाई लोगों ने जैसा लिखा है महाभारत में योजना बनाई कि इसको रोका कैसे जाए उन्होंने कहा कि ऐसा करो इसका अपने पुत्र में बेटे में बहुत मोह है इतना मोह है एक बार इसके कान में आवाज पहुंचा दो गया ये योजना बनाई कहा गया भीम से कहलवाओ तो उसने कहा भाई वो अश्वथामा मारा गया अश्वथामा कौन कहता है द्रोणाचार्य ने पूछा तो कहेंगे भीम कहता तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है इसकी बात मैं मानूंगा ही नहीं तो कहेंगे ये तो बात नहीं बनी तो कहेंगे युधिष्ठिर जी को धर्मराज माना जाता है सत्यवादी माना जाता है उसको तैयार करो तो उसको तैयार किया किया तो भाई युधिष्ठिर जी ने सोचा बड़ा संकट में फंस गया एक और तो विनाश करता है द्रोणाचार्य सारी सेना को सफाई करेगा और एक और मेरा झूठने हो जाएगा भी वो संकट में आ गया तो क्या किया जाए तो उसने क्या किया कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया इसी आधार पर मारो और फिर कहलवा दो तो युधिष्ठिर ने सोचा ये तो हाथी मारा गया <laughs> ये हाथी मारा गया तो मैं स्वतामा कहूंगा तो है तो उसने क्या किया द्रोणाचारी के कान में आवाज पहुंचाई अश्वत्थामा हाथो ये तो उनसे सोचे कह दिया और ये पता नहीं हाथी मारा गया या अश्वत्थामा मनुष्य मारा गया इतने नीचे सोचे क्या आपको सुनाई <laughs> नहीं क्या समझ आया नहीं आ समझ अश्वत्थामा हाथो अश्वत्थामा मारा गया और पता नहीं ये हाथी मारा गया या ये मनुष्य मारा गया ये नीचे सोचेगा तो फिर अगली बात आई जिस समय वो अस्त्र से छोड़ के मोह में मोहित हो गए दुखी हो गए साहस तोड़ दिया युद्ध का उस समय आया कि अब क्या करें तो उस समय अर्जुन जी ने देखा कि अब इसके ऊपर शस्त्र चलाए जाएं या नहीं चलाए जाएं ये तो न्याय है कि जब ऐसी घटनाओं व्यक्ति पड़ जाए तो आमने सामने युद्ध की स्थिति वो तब चलाओ तो जब ये संकट में पड़े तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या बात है कि देखो अस्त्र शस्त्र छोड़ के बैठ गया है उस पर मार्ग मारना उसकी हत्या करना काट डालना ये हमारे लिए युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाता है उसने कहा आप जानते नहीं है ये सारा अन्याय करते आ रहे हैं सारे के सारे नीचे से लेके ऊपर अन्याय अभिमन्यु को मारा था घेर के वो न्याय था अभिमन्यु को एक ने मारा था क्या नहीं समझे आप इतने अन्यायकारियों ने इकट्ठा होकर के युद्ध के नियमों से विरुद्ध नहीं मारा था इसको अभिमन्यु को उसने कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है अभी मन्यू को तो बिल्कुल ही इन्होंने दुष्टों ने मिलकर मारा था अकेला व्यक्ति युद्ध थोड़ा ही कर रहा था वो तो जट उसको मरवा दिया तो हमें एक क्षति का अध्ययन करते हैं देखो आपस में परिवारों में समाज में देश के लोग आपस में झगड़ा कभी नहीं करें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें ये बात अब कोई व्यक्ति आक्रमण करता है देश के ऊपर इसकी भूमि को दबाना चाहता है विनाशकारी युद्ध उसने छेड़ा है तो उसके लिए तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका विनाश के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ये अलग अलग बात है राजा कैसे करते हैं और उपदेशक कैसे करते हैं वो लोगों में भाव भरते हैं युद्ध करो दुष्ट को हटाओ और मारने वाले मारने का काम करते हैं परंतु समन रखना कि हां मैं व्यवहार के क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े करते हैं फिर आगे लड़ाई चल पड़ती है और वो होते होते आपस में झगड़ते हैं और झगड़े का परिणाम आपस में विघटन और तीसरा व्यक्ति आकर के राजा बनता है वो दोनों को मार देता है ये घटनाएं होती आज की स्थिति में कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है इस वर्तमान काल इतना भयंकर गदर मचा हुआ है विश्व में और जो शक्तिशाली है संगठन है वो अपने स्तर पर थोड़ा सा अपना बचाव कर सकता है जो विघटन के रूप में है शक्तिहीन है कोई योजना नहीं वो अधिक से अधिक मारे जाते इसमें एक संतुलन है एक आंतरिक शत्रु अविद्या काम क्रोध लोभ मोह कुसंस्कार ये अंदर के शत्रु अन्यायकारी बुरे व्यक्ति बाहर के शत्रु अब ध्यान देना है कि व्यक्ति के को अंदर के शत्रुओं को जीतने का अधिक प्रयास करना चाहिए जो अंदर के शत्रुओं को जीतता उनको दबाता मारता वो बाहर संतुलित न्याय कर सकता है आप वेद मंत्र पढ़ते हैं तो राजा के लिए क्या मंत्र आता है आपको की याद है ब्रह्मचर्य राजा तो ये क्यों है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मंदिरों को बस में रखने वाला व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा करता है राजा ये सारे के सारे बिल्कुल ब्रह्मचर्य नाम की चीज नहीं एकाध व्यक्ति होगा कोई कोने में सारे के सारे ब्रह्मचर्य से उल्टा खाते उल्टा पीते उल्टा आचरण उल्टा चाल चलन उल्टी कमाई ये सारे के सारे राष्ट्र की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता और लगभग सभी देशों में है अंदर के शत्रुओं को न जीतने से ब्रह्मचर्य का पालन न करने से कोई राजा उचित न्याय नहीं कर सकता आपने सुना होगा जब ये युद्ध चल रहा था उस समय भीषम पितामह की स्थिति क्या थी उस समय युद्ध की बातें आई तो भीष्म पितामह ने कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय दिया मैं युद्ध इनके पक्ष की ओर से करूंगा और फिर प्रसंग आता है कि आप इतने महान बलवान योद्धा हैं बड़े हैं परंतु अन्यायकारियों के पक्ष में क्यों खड़े होकर युद्ध करते हो तो उस समय उसने एक बात कही से पुरुषो दास है न तू अर्थ कश्य चित क्या समझ में आए पुरुष धन संपत्ति का गुलाम है दास है अर्थ से पुरुषो दास है न तू अर्थ कश्य चित अर्थ किसी का दास नहीं है इसलिए अगली पंक्ति में कहा मैंने इनका खाया पिया है इन्हीं के यहाँ खाता पीता रहा अन्न रोटी जो भी कुछ इसलिए मैं इनके पक्ष में खड़ा हुआ युद्ध कर रहा ये भीषम पितामह यदि वो योगी होते या योगाभ्यासी होते या ब्रह्मचारी होते उस रूप में तो कभी अन्याय के पक्ष को लेकर नहीं लड़ते कभी नहीं होता ये अन्याय के काम कर करके उन्होंने जो घटनाएं की आती है उसके इतिहास में लंबी चौड़ी वो सभी अन्याय के पक्ष अंदर के शत्रु न जीतने वाला व्यक्ति अपना और दूसरे का विनाश करता है अनुचित जैसा वर्णन है महाभारत में अर्जुन की जो युद्ध की विद्या है वो बहुत विचित्र दिखती है जैसा जैसा उसका वर्णन आता है एक बार की घटना विराट विराट राजा थे इनको जब वो कितने दिन का आवास वो मिला था हाँ एक वर्ष का था या क्या अज्ञातवास था जो उसमें इन्होंने किसी ने तो भाई गाना सिखाया किसी ने भोजन बनाया किसी ने कुछ किया विराट राजा के रहते थे ये सारे के सारे पांडु और करते रहे करते रहे किसी को पता तो था नहीं इस रूप में तो विराट राजा को दबाया इन्होंने कौरवों के पक्ष वालों ने किसी ने आक्रमण किया उस समय विराट का पुत्र युद्ध के लिए गया आगे बढ़ा और इतना भयंकर योद्धाओं को देखा और वो कांप गया और भाग पड़ा मेरे बस की बात नहीं ये हो ही नहीं इनमें लगभग भीष्म पितामह है कर्ण और क्या क्या थे द्रोणाचार्य थे तीन चारों के चारों योद्धा जो माने जाते थे लगभग वो तीन या चार वहां विद्यमान थे और अब कांप के भाग्य क्या करें क्या हो अर्जुन ने कहा देखो <laughs> वो अर्थ चलाने वाले बने थे ना साहब हाँ हाँ वो बनकर के चले वो और उस युद्ध में जो बात आई है जैसी तो उसमें जो उसने कहा तू डर मत मैं अपने आप करूंगा जो कुछ करूंगा और डरता हुआ चल नहीं रहा था विराट का पुत्र तो अर्जुन ने क्या किया जो सा उसमें लिखा है ऐसे भयंकर मार मारी उनको कर्ण कहा गया और ये भीषम पिता मैं कहा गए <laughs> सारे के सारे पता नहीं कहां उड़ गए और कहने लगे भाई ये तो कोई और ही व्यक्ति है विराट का पुत्र तो नहीं हो सकता उन्होंने कहा कि अर्जुन के सिवाय और कोई हो नहीं सकता <laughs> तो बड़ी विचित्र लड़ाई लड़ते थे जैसा आया है इतिहास में और युद्ध के विषय पर राम की भी ऐसी लड़ाई देखी जाती है रामायण में तो यदि राजा लोग संयमी होते हैं राजा लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं राजा लोग ईश्वर को मानते हैं आप पढ़ते हैं हे ईश्वर ये राजा जो है हमको राजा बना दो भूगोल के राजा हम बने यह महर्षि की प्रार्थना परंतु वो राज्य तो आपका ही होगा हम तो आपके केवल सेवक मात्र हैं ये है इतने आस्तिक इतना इस पर विश्वास हमको राज्य राजा बनाओ चक्रवर्ती के चक्रवर्ती राजा हम बन जाए पर वो राजा राज्य आपका ही होगा हम तो आपके सेवक हैं प्रत्यय हैं नौकर हैं ये मानते हैं न्यायकारी जब ये राजा लोग न्यायकारी होते थे संयमी होते थे अंदर के शत्रुओं को जीतते थे अविद्या को अधर्म को उखाड़ देते थे तब न्याय करते थे और न्याय समाज में चलता था और ये न्याय पीछे चलिए एक अरब छियानवे करोड़ कुछ लाख कितने वर्ष हो गए किसको याद है पूरा एक अरब एक पक्ष में छियानवे करोड़ लाख कितने आठ लाख और हजार है तिरपन हजार एक सौ दो वर्ष आज कौन सा दिन है हाँ, तीसरा वर्ष चल रहा है स्वामी पूरे दिन तीसरे वर्ष का कौन सा दिन है भाद्रव शुक्ल भाद्रपद शुक्ल छठे मास का ग्यारहवा दिन है बारहवा दिन है आज अब तो आपको याद तो होना चाहिए ना जब पूछते हैं तो झटाझट याद सुना दोगे आप नहीं होंगे तो नहीं सुना देंगे मोटी बड़ी संख्या वो तो याद होगी एक अरब छियानवे करोड़ आठ लाख त्रेपन हजार ये बड़ी संख्या तो याद हो वो छोटी याद करने में थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है वो पूर्व की स्थिति महर्षि के अनुसार महाभारत काल से पहले एक हजार वर्ष पहले बिगाड़ अन्याय धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा था अन्याय होने लगा था बिगाड़ होने लगा था पतन होने लगा और महाभारत में ये विनाश हो गया अब कितना काल पीछे गया होगा एक अरब में कितने करोड़ होते हैं सौ और छियानवे करोड़ में कितने होंगे इतने है जी अब ये इतना लंबा भूगोल में राजा रहना राजनीति का चलना कोई साधारण बात नहीं इतना लंबा काल भारत देश के राजाओं का राज्य चलता रहा यद्यपि बीच में बिगाड़ छोटे मोटे होना अलग बात है इतना लंबा किसी का राज्य चलना ये परंपरा थी ईश्वर प्राप्ति को लेकर चलते थे राजा लोग भी चारों आश्रम ईश्वर प्राप्ति को ही सामने रख के चलते थे और चारों आश्रम न्याय प्रिय आदर्श गृहस्थ आदर्श ब्रह्मचारी आदर्श राजा आदर्श सन्यासी ये चलते चले आए और फिर महर्षि ने एक संकेत दिया कि देखो जब व्यक्ति के पास में आवश्यकता से अधिक धन जनशक्ति हो जाती है तब वो ईश्वर को धर्म को छोड़ देता है भाव सुना रहा हूं क्या समझ में आया आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति आवश्यकता से अधिक जनशक्ति जब होती है तब वो ईश्वर को धर्म को न्याय को छोड़ता है ये महर्षि के भाव सुना रहा हूं जो के जो शब्द देखने हो तो महर्षि के शब्दों को देखना एक शब्द क्या है आवश्यकता से अधिक एक व्यक्ति को दस लाख रुपए की आवश्यकता है सब कार्य संपन्न हो रहे हैं तो वो व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करता हुआ हवन भी करे योगाभ्यास भी करे समाज के लिए उपकार के कार्य भी करता रहे औरों को सहायता भी दे अच्छे काम में दान भी करे वो वेद का स्वाध्याय भी करे और धन उसका संतुलित ये ढंग हुआ अब वो व्यक्ति क्या करता है न तो वो स्वाध्याय करता है न वो दूसरों की सहायता करता है न वो योगाभ्यास करता है न वो दान देता है वो दस लाख के स्थान पर बीस लाख और इकट्ठा करने में लगा हुआ अनावश्यक जब एक भाग में धन चाहिए उतना तो धन रखो शेष काल में विद्या पढ़ो उपकार करो योगाभ्यास करो सत्संग करो तो संतुलन बना रहेगा और वो धन बढ़ गया तिगुना जनशक्ति बढ़ गई बहुत अधिक तो फिर वो ईश्वर नाम की चीज धर्म नाम की चीज को न्याय नाम की चीज को छोड़ देवेगा और कालांतर उसका विनाश हो जाएगा इस वर्तमान काल में व्यक्ति अंदर के शत्रुओं से मारा जा रहा है और अंदर के शत्रुओं से मरता हुआ दूसरे को मार रहा है भूगोल की स्थिति है क्या समझ में आया अंदर अविद्या अधर्म काम क्रोध वासनाएं कुसंस्कार उनको वो दबाता नहीं उनको रोकता नहीं उनके पीछे पड़ा हुआ है उनकी पूर्ति में लगा हुआ है एडी से चोटी तक भोग में डूबा हुआ है और उस भोग की पूर्ति के कारण वो दूसरे को अन्यायपूर्वक मार रहा ये विश्व की अवस्था है अब वर्तमान एक व्यक्ति धन और संपत्ति के सिवाय दूसरी बात ही नहीं देखना चाहता फिर आगे देखता है तो अपने भोग को देखता है दूसरे के भोग को भी नहीं देखता दूसरे को खाने पीने की व्यवस्था भी हो गया नहीं वो नहीं नहीं वो नहीं देखता वो कहता मेरे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होंगी और दूसरे को चाहे एक ग्रास एक टुकड़ा नहीं मिले कोई ऐसे भाग दौड़ लगाई अब हुआ ये कि जैसे वो भाग दौड़ लगा रहा था ऐसे लोगों ने भी सोचा भाई हम भी भाग दौड़ करें तो वो भी उसी की तरह दौड़ लगाने लगे तीसरे आए वो भी पूरा विश्व डूब गया अन्याय में ईश्वर को छोड़ दिया धर्म को छोड़ दिया मुक्ति को छोड़ दिया संयम को छोड़ दिया इंद्रियों के पीछे गुलाम बन के, के और भयंकर आपने यहाँ कुत्ते देखे होंगे जो छोटा है पिल्ला है छोटा सा वो दूसरे मोहल्ले में चला जाए ना छोटा सा पिल्ला तो क्या करते हैं कुत्ते बताओ एकदम आक्रमण कर देते हैं उसको उधेड़ के रख देते हैं उसको चिल्लाता रहे आपने कुत्ते को देखा काटने वाला है हाँ दग जी हाँ। आपकी ओर भी आया होगा वो एक दिन एक व्यक्ति ने क्या किया गुरुकुल के लिए अन्न संग्रह करने जाते थे गांव में अर्थात जब खेती पकने को होती है गेहूं की चने की उस समय प्राय परंपरा है हरियाणा में गुरुकुल के लोग गांव गांव में जाके अन्न लिखते हैं हम भी गए अन्न लिखने के लिए वो अन्न लिखवाते हैं कोई जैसी शक्ति होगी चालीस किलो लिखाएगा कोई पीस लिखाएगा कोई कितना लिखाएगा जैसी सामर्थ्य वैसे लिखते चले जाते हैं और मैं प्राय लाठी रखता था उस दिन क्या कारण हुआ कैसे हुआ वो लाठी में वहीं छोड़ आया जहां ठहरे हुए थे और ऐसे चलते जा रहे थे एक व्यक्ति ने जानबूझ के कुत्ता हमारे साथ लगा दिया लगाते ना कुत्ते को कैसे बोलते हैं <laughs> अब भाई वो आया काटने के लिए तो मैं तो हाथों से तैयार हो गया उसको पकड़ने के लिए वो रुक गया वहीं नहीं मैं डर जाता तो काट देता हूं आया ना जैसे काटने के लिए भाई कुछ ना कुछ नाक लगेगा पूछ लगेगी टांग लगेगी कुछ तो हाथ लगेगा अरे वो काटने लगे तो कपड़ा या जूता जो के मुंह में डाल दो <laughs> नहीं समझे आप ऐसे ऐसे करोगे तो काट डालेगा जूता हाथ में लग गया कपड़ा लग गया ये काटेगा तो वो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दो <laughs> और फिर वो तो मुंह में आया फिर की टांग पकड़ो या तो या पूछ पकड़ो और घुमाओ फिर उसको <laughs> और घुमा करके और फेंक दो उसको फिर उठे तो फिर वही करो एक दिन की और घटना सुनाता हूं एक विदेशी सांड बड़ा कट्टा कट्टा लंबा चौड़ा और मैं ये लाठी लेकर के तपोवन देहरादून सायकाल भ्रमण के लिए जाता था वहां जैसे जंगल है यहां सड़कें हैं और पशु गौं चर करके आती हैं तो मुझे ये पता नहीं था ये मारने वाला है मारता है गौं भी जा रही थी और वो बीच में चले आ रहा था मैं जब आया तो एकदम ऐसे खड़ा होगा मन कहा ये तो मारेगा ये क्या किया जाए ऐसे खड़ा होगा मारने के लिए तो मैंने क्या किया ये लाठी तो शायद कमजोर हो आजकल लिखता हूं एक बहुत मोटी तगड़ी लाठी थी किसी ने उठा ली चोरी कर ली तो ऐसा मारा के जोर से नाक पे और वह रुक गया फिर तैयार होके आया दो बार है जैसे तैयार होकर आ गया मैं ऊंचाई पर चढ़ गया उसकी टक्कर नीचे ही गई ऊंचा खड़ा होकर के फिर एक और मारा उसके नाक पर बच गया नहीं तो मार देता वो तो यदि मैं ऐसा नहीं होता ऊंचाई पर नहीं जाता तो मार देता वो तो फिर अपना निराश होकर के अपने चला गया नहीं समझे आप आप तो पतले पतले से दक्कड़ की तरह शरीर आपका सबका लगभग है एकादय में होगा ऐसे कई एक तगड़ा सा व्यक्ति आ जाए तो आप सबको समेट सकता है वो आपने शरीर को बनाया ही नहीं पता नहीं ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह चलते हो आप या नहीं है ना पतले पतले हमको तो ऐसी सुविधा साधन कभी नहीं मिले आप घबरा जाएंगे वो सारे सुनाते हैं जब हम जैसे हमको साधन मिले तो भी इतना परिश्रम किया इतना पुरुषार्थ किया इतने दंड बैठे मारे इतना और आप जैसा शरीर नहीं बनाया बहुत अच्छा बनाया था अब तो सत्तावन वर्ष की अवस्था तक डेढ़ हजार या कितने दंड बैठे करता था जब ये वायु का रोग हुआ तो उससे सीधा आक्रमण हुआ कि करने से कानों की आवाज बढ़ जाना और न कर पाना ये स्थिति आई तो फिर व्यायाम छूटा तो ये नहीं तो अब भी आप जैसे जैसे तो अब भी प्राय तगड़ा होता और लगभग आप आप जितने हैं ना इन मतलब अब भी मैं बहुतों से तो अब भी तगड़ा हूं या नहीं कुश्ती करके देख लो क्या जी उदय जी सो तो नहीं जाओगे झुकते झुकते एक दिन की घटना सुनाता हूं गुरुकुल सिंहपुरा सुंदरपुर नाम से अब तो उसको पाठ्यक्रम बदल के राज्य के स्तर पर बदल दिया हम वहां रहते थे और अपना व्यायाम करते थे पढ़ाते थे उपदेश भी बीच में करते थे एक अच्छे तगड़े पहलवानी करते होंगे मैंने सुना था पहले वो और अध्यापक थे वो पढ़ाते थे और वो बार बार ये कहते देखो ये क्या ब्रह्मचारी है इनसे तो हम ही तगड़े हैं ऐसे कहते रहते ये कहा ये ब्रह्मचारी ऐसे ब्रह्मचारी कहते कहा बल है इनमें तो मैंने कहा अध्यापक जी आप ये कहते हैं बल नहीं है ये कहा ब्रह्मचारी है देखो आज मैं और आप अपना कुश्ती करेंगे और बहुत तगड़े मोटे थे ना वो तो मैंने कहा इसको यदि हाथ में आ गया तो फिर तो को निकाल देगा पहले उसमें आ गया ना हाथ में है फिर तो मुश्किल है बचना